दुश्मन और दुश्मन को दोस्त दिखाती है तो क्या सच होते हैं मालूम पड़ना और होना ये दो चीज है तो वेदांत का ये कहना है कि आपको मालूम पड़ता है सो तो ठीक है हाँ, लेकिन मालूम पड़ना और होना दोनों एक नहीं है दोनों अलग अलग चीज है आप तो हैं भी और मालूम भी पड़ते हैं कि हैं और दुनिया मालूम पड़ती है परंतु है नहीं अगर यदि दुनिया न मालूम पड़े तो तो बोले फिर आप चेतन नहीं आप हैं यदि आपको दुनिया मालूम न पड़े तो आपकी चेतनता सिद्ध नहीं होगी और जगत के कारण यदि आप ही नहीं होंगे तो द्वैत होगा हाँ, ये बात योग सांख्य को मान्य है कि जगत का कारण प्रकृति है तो आत्मा अलग है बिल्कुल आपने तो जन्माद्यश से जता को ही काट दिया जतोबा ईमान भूतानी जयंते को काट दिया आप तो वेदांत के दुश्मन हैं यदि सृष्टि का कारण कोई भी दूसरा है माया है कि है न कि प्रकृति है कि ईश्वर है कि परमाणु है कि वासना है, है? आ, कि काल है कि कि सृष्टि अनुत्पन्न है न कदाचित अनिदृशन जगत ये दुनिया हमेशा से ऐसी चलती है हमेशा तो आपने देखा होगा ना हमेशा देख के आप आए हैं और कहते हैं मेगा अच्छा ईश्वर ने बनाया तो गणेश रूप से बनाया कि तो देवी रूप से बनाया कि सूर्य रूप से बनाया कि शिव रूप से बनाया कि विष्णु रूप से बनाया कि निराकार में से बनाया क्या अक्कल करते हैं हम्म। और नई नई अक्कल नई नई अक्कल करते हैं हमारे एक बाबा जी थे तो वो बोलते थे बेटा ये सृष्टि कैसे हुई तुमको मालूम है नहीं महाराज हमको क्या मालूम सृष्टि कैसे हुई कंदराकार ईश्वर को पसीना हुआ तो उन्होंने उसको पोष के जो फेंक दिया एक बूंद पानी फेंक दिया उसी से ये सारी सृष्टि बन गई तो अच्छा महाराज निराकार ईश्वर को जब शरीर नहीं था तो पसीना कैसे हुआ हाथ नहीं था तो उसको पहुंचा कैसे है और उनके सिवाय आसमान कुछ नहीं था तो फेंका कहा कि बोले बस बस बेटा हाँ, हाँ, हाँ। ये सब तुम्हारी अकल ने बनाया है ये सब तुम्हारी अकल ने बनाया है जब निराकार के शरीर ही नहीं है तो पसीना कहाँ से होगा हाँ, और पसीना हो गया तो शरीर नहीं था तो पसीना कहाँ से पहली बात हाथ नहीं था तो पहुंचा कैसे और दूसरी जगह नहीं थी तो फेंका कहाँ और फिर उसमें से आप लोग भला हाँ, ये बताओ आपने सुना है ना कि नारायण की नाभि में एक कमल पैदा हुआ और कमल पर ब्रह्मा हुए तो आपको ऐसे ही लगता होगा कि जैसे हम साढ़े तीन हाथ के होते हैं ऐसे नारायण कहीं साढ़े तीन हाथ के होंगे और उनकी छोट जैसे हमारे पेट में गड्ढा होता है ऐसे उनकी छोटी सी नाभि होगी और उसमें कमल पैदा हुआ होगा और कमल पर ब्रह्मा हो गए होंगे आपको योग वाशिष्ठ का संस्कार नहीं होगा तो भागवत का संस्कार नहीं होगा भागवत में ऐसे लिखा है कि ये जो आकाश है ना आकाश समूचा आकाश जिसका न और न छोर न आदि नंत इसी से कल्पित है जिस चीज का ओर छोर नहीं होता आदि अंत नहीं होता हाँ, उसका आदि अंत तो दिखेगा नहीं और छोर दिखेगा नहीं तब वो अपनी बुद्धि में कल्पित होगा आकाश तो ये आकाश नाभि है नारायण है ब्रह्म और उनमें अज्ञानी की बुद्धि से कल्पित है नभ रूप नाभि और उसमें कमल क्या खिला बोले खपुस जैसे आसमान में कोई फूल खिले वैसे नारायण की अनंत विशाल नाभि में और एक कमल खिला और उस कमल पर ब्रह्मा हुए ये सारा का सारा तमाशा क्या हुआ हम्म। देखो तो ये श्रीमान जा रहे हैं कौन है देखो बच्चों के मन में एक कल्पना आ गई है देखो एक आदमी जा रहा है तो इसका माँ बाप कौन है तो बंध्या पुत्र ना उसके उसकी माँ कौन है का पांच बंध्या और इसके बाप कहा है ही नहीं ऐसा हो ऐसा एक लड़का जा रहा है और जिसकी माँ तो बाज है और बाप है ही नहीं कच्छा भाई देखो ये मुकुट भी पहने हुए हैं तो काहे का मुकुट है का तो आकाश कुसुम का आसमान में एक फूल खिला उसका मुकुट पहने होगा अरे धनुष मार दिया इसके कंधे पर कब वो काय का है खरगोश की सींग का धनुष है और उसने बड़ी भारी महाराज बहादुरी दिखाई है क्या बहादुरी दिखाई है तो उसने रस्सी के सांप को बाढ़ से बेच दिया है तो कुछ कल्पना होती है तुम्हें बन जाएगी वो मन में बिल्कुल हाँ, वो लड़का भी बनेगा उसका मुकुट भी बनेगा ये है आप पुराण क्या पढ़ते हैं प्रमाद संसारवानिगो आप केवल भ्रम से ही अपने को सरकने वाली चीजों से संबंध मानते हैं संसारवान माने संसार माने सड़क हाँ। सड़क सरकती है सरकती है हाँ। जो दुनिया सरकती है उसमें मेरा कौन वो तो सरक गई हाँ, हाँ, हाँ। एक सज्जन से बात हुई कि आपके सिर के बाल तो बहुत अच्छे हैं बोले महाराज आप क्या देखते हैं आप जवानी में देखते ऐसे काले काले थे कब वो सारे न जाने कहाँ के कहाँ चले गए और अभी आप उनकी याद करते हैं कि हमारे काले बाल कैसे बढ़िया थे आपका वो बचपन आपकी वो जवानी है संसारवान वो कितने पाप आए और गए आप याद करके बता सकते हैं इस जीवन को नहीं बता सकते कितने पुण्य किए और गए बता सकते हैं कितनी दोस्ती हुई कितनी दुश्मनी हुई अच्छा आप एक दिन की गिनती करके बताइए कि बारह घंटे में आपका मन कितनी बार खराब हुआ है कोई रजिस्टर इसका तो कौन कौन आपको अच्छा लगा दिन भर देखने में किसको देख किसको देख के आपके मुंह का जायका बिगड़ गया आप रजिस्टर बनाइए एक दिन का बना लीजिए एक दिन का नहीं एक घंटे का बना लीजिए कि आपके मन में क्या क्या बात आई जब तक आप लिखना शुरू करेंगे तब तक 10, 20, 50 बातें आपके मन में आके और निकल जाएंगे इसी का नाम है संसार संसार माने संसरण सी श्री गतव धातु है उसमें सम उपसर्ग है संसरण माने सरकना आपका तन सरक रहा है आपका मन सरक रहा है आपके तन मन में आने वाली चीजें सरक रही हैं और आप संसारवान बन रहे हैं मैं इस वाला हूँ मैं इस वाला हूँ मैं इस वाला हूँ क्या है इसका नाम है ब्रह्म हम को वेदांती लोग अपनी भाषा में अध्यास बोलते हैं बना अध्यास और ब्रह्म ये पर्यायवाची शब्द है वो हाँ। अधि माने ऊपर और आस माने निक्षेप थोपना असुक्षेप एक के ऊपर दूसरी चीज चढ़ बैठी हाँ, हाँ। अभ्यास के कारण दुख होता है बार सर्पों की माता कद्रु और गरुड़ की माता गुणता दोनों सौत हैं हो आपस में दोनों कश्यप की पत्नी हैं दोनों में होड़ लगी बात बैठी थी दोनों सौते हैं आपस में बातचीत लगी तो भाई सूर्य के घोड़े काले होते हैं कि सफेद होते हैं ये पुराण में कथा है वो पुराण में सूर्य के घोड़े काले होते हैं कि सफेद होते हैं तो कद्रु ने कहा कि काले होते हैं और गुरता ने कहा कि सफेद होते हैं हम महाराज जैसे आजकल सत्ता होता है ना कि दो निकलेगा कि एक निकलेगा दोनों ने सत्ता कर लिया आपस में कि यदि काले निकलेंगे तो गुणता कद्रू की राशि बनेगी और जब ही सफेद निकलेंगे तो कद्रू बिनता की दासी बनेगी हाँ ये देखो पुराना जुआ ये जुए पुराना जुआ हुआ है कि नहीं हुआ तो, तो हाथ में है या सलाई की तिल्ली ले लेते हैं तो इसमें एक तीन पांच निकलेगा कि दो चार छह निकलेगा और लग गई बाजी हो तो चिड़िया बैठी है ये उड़ के पूरब जाएगी कि पश्चिम जाएगी कि बाजी जुआ हो गया जुए में सचमुच तो सूर्य के घोड़े थे सफेद लेकिन जब कद्रू को मालूम हुआ कि मैं तो अब हार जाऊंगी दासी हो जाऊंगी तो अपने बेटों से कहा अब जाके काले काले सांप जो हैं हैं वो सूर्य के घोड़ों में लिपट गए छल हो गया हूँ हाँ, जुआ में छल होता है ये देखो ये पुराण की कथा है अब तो महाराज दिखा दिया कद्रू ने जनता को तो देखो घोड़े तो काले हैं अब जनता हो गई दासी फिर जरूर ने कहा कि भाई ठीक है एक बार हमारी माता तो हार गई लेकिन अब तुम लोग हमारी माता को दासी मत बनाओ छोड़ दो हाँ। ये सौत सौत का झगड़ा हुआ हो और सौतेले बेटे जो हैं उनका तो सर्पों ने कहा कि एक सर्प पर हम छोड़ सकते हैं कदरू ने कहा एक सर्प पर हम छोड़ सकते हैं तुम अमृत ले आओ गरुड़ और हमारे बेटों को पिला दो सर्प सब अमर हो जाए तब हम छोड़ देंगे तुमको अब गरुड़ ने कहा कि सांपों को अमृत पिलाना है कोई अच्छी बात तो नहीं है बोले अच्छा देखो मैं लाता हूँ और ये आपको अमृत गए देवताओं ने ताले में बंद रखा अमृत को गरुड़ को नहीं मिले फिर गरुड़ ने सब देवताओं को हराया हरा के अमृत लेके आए सांपों के सामने रख दिया भाई हमने तुमको दे दिया और उसके बाद देवता लोग उठा ले गए और उनका दासी पने से मुक्त हो गए दिनता दासी थी कि नहीं और सूर्य के घोड़े काले सफेद थे काले हो गए थे क्या इसको अध्यारोप बोलेंगे हो हाँ सफेद घोड़े पर काले का अध्यारोप हो गया जो दासी नहीं थी उस पर दासी बने का अध्यारोप हो गया हाँ अध्यास दूसरे के ऊपर दूसरी चीज डाल दी गई अन्यस्मिन अन्याओ भाषा अतस्मिश तद बुद्धि शंकराचार्य ने लिखा अतस्मिश तद बुद्धि अभ्यासा जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसी मान बैठना इसका नाम अभ्यास है इसी को ब्रह्म बोलते हैं असल में दूसरों पर जो अभ्यास होगा देखो कामी लोग होते हैं ना स्त्री पुरुष तो मुंह में से जो लार निकलता है ना उसको अमृत मानते हैं वो हाँ, मुखम लाला क्लिन्नम मुंह में से लाला ही तो निकलता है और क्या निकलता है तो थूक देते हैं तो क्या होता है हाँ, बोले नहीं नहीं ये तो स्त्री पुरुष के मुंह में से जो लार निकलता है वो अमृत है अमृत इसको बोलते हैं अभ्यास बना उसका नाम अभ्यास है अभ्यास उस गंदी चीज पर अमृतत्व आरोपित हो गया उसका नाम अभ्यास पर अच्छा तो दूसरे की बात पीछे सोचना अपनी बात सोचो तो तुम ज्ञान स्वरूप चेतन तुम क्या हो अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं आत्मा साक्षी पूर्ण मुक्त एक मुक्त मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निस्पृह शांतो भ्रमात् संसारवानिव श्लोक पढ़ना तो ऐसा पढ़ना उसका अर्थ समझ में आ है हाँ उसके स, आ, हाँ, उसके शब्द सौंदर्य में या स्वर माधुर्य में मन न जाए हो हाँ। उसका अर्थ क्या है ये समझ में आ रहे ये जो ध्वनियात्मक शब्द होते हैं तबला बजाते हैं शहनाई बजाते हैं हम्म। हाँ वो स्वर माधुरी का संगीत का आस्वादन उसमें होता है और ये जो हमारे वेदांत के श्लोक होते हैं वो अर्थ माधुरी के आस्वादन के लिए होते हैं उनके अर्थ आत्मा आत्मा माने स्वयं खुद होता है खुदा आप जानते हैं ना खुदा एक होता है खुदा और एक होती है खुदी हाँ। खुदी होती है जीव में और खुदा होता है सातवें आसमान में और अगर खुद न हो तो न खुदा बने न खुदी बने खुदा को खुदा बनाने वाला खुद है और खुदी को खुदी बनाने वाला भी खुद है हाँ। उस खुद को मन स्वयं को अपने आप को बोलते हैं आत्मा तो ये देह भेद से अलग अलग नहीं होता है बोला मैंने स्वयं ये कहा था तुमने स्वयं ये कहा था उसने स्वयं ये कहा था मैं तुम वह तीनों अलग अलग हुए और स्वयं सब में है वो जो सब में है उसको स्वयं बोलते हैं वह खुद उसी को बोलते हैं आत्मा जो नाम के भेद से अलग अलग नहीं होता रूप के भेद से अलग अलग नहीं होता व्यक्ति के भेद से अलग अलग नहीं होता उसका नाम होता है आत्मा कठोपनिषद में आत्मा शब्द है आत्मा आत्मा आपके ध्यान में न हो तो ढूंढ लेना एस सर्वेशु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते गूढ़ आत्मा आत्मा माने न ताम्यति न ताम्यति का अर्थ आप ऐसे समझो ये आपके कलेजे में एक धड़कन चलती है मां के पेट में आप आए और धड़कन चलने लगी बाप के पेट में भी धड़कन थी हो बीर्ज में भी धड़कन थी लेकिन वो मशीन से पकड़ी नहीं जाती हाँ और सच पूछो तो गेहूं में जौ में अंगूर में भी धड़कन होती है ना नहीं तो वो कच्चा पैदा हो फिर पक जाए नरम हो कठोर हो ये जो उसमें परिवर्तन होता है वो बिना स्पंद के नहीं हो सकता वहाँ भी है वहाँ भी कुछ हिलता है अंगूर में भी कुछ हिलता है गेहूं में भी कुछ हिलता है बाप के पेट में भी कुछ हिलता है माँ के पेट में जब बच्चा आता है तब कुछ तो हिलता है उसी को स्पंदन स्पंदन बोलते हो स्पदी ईशत चलने जरा जरा सा हिलता रहता है कुछ और मृत्यु के अंतिम क्षण तक ये कलेजे की धड़कन चलती रहे ये जो जोगी लोग दिखा देते हैं ना कि हमारी धड़कन बंद हो गई आप ये कह सकते हैं कि आपका जो वो कान में लगाने वाला क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग हाँ हमको नाम नहीं आता जिससे देखते हैं कि धड़कन चल रही है कि नहीं एक मशीन होती है समझो वो तो गर्भवती के पेट पर रख के भी देख लेते हैं कि बच्चे की धड़कन चल रही है कि नहीं आपकी मशीन की कमजोरी है कि आप जोगी की धड़कन की जो सूक्ष्म गति है उसको नहीं पकड़ पाते वो तो आपकी मशीन कमजोर है उसकी धड़कन बंद नहीं है न ताम्य थे आत्मा माने न ताम्य थे जो कभी थके नहीं थके नहीं न ताम्यती जिसमें श्रांत विश्राम नहीं है वो है अच्छा बाप अपने आत्मा को देखो ये कैसा है कि इसमें भी विश्राम नहीं है ये देखता है देखना है देखना सपने में देखे जागते में देखे सुसुप्ति में देखे सुसुप्ति को भी जानना इसके जानना में कभी विश्राम नहीं है इसलिए इसको आत्मा बोलते हैं वो टीका वीका पढ़ के आओगे तो क्या कुछ उसमें समझ में थोड़ी आत्मा हाँ। अच्छा तो फिर इसको बताया जागृत अवस्था में जब इंद्रियों से विषय ग्रहण करते हो तब भी ये आत्मा है और इंद्रियों के द्वारा हाँ, विषयों में जाकर एक हो जाता है उनका बोध होता है फिर उनका संस्कार ग्रहण करके इंद्रियों को जहां का तहा छोड़ देता है स्वप्न में उनको देखता है सुसुप्ति में बिल्कुल आनंद भुक विश्राम का रसा स्वादन करता है और तीनों में एक रहता है जागृत में स्वप्न में सुसुप्ति में अब देखो एक एक बम गोला इस पर पहले मार लो ये जो आप इस शरीर के जागृत स्वप्न सुसुप्ति को कि दिन में हम जागते रहते हैं और ऑफिस में जाके काम करते हैं और सपने में जब पलंग पर सो जाते हैं तब सपना देखते हैं और जब कुछ नहीं दोनों नहीं मालूम पड़ते हैं तब मैं सुषुप्ति में होता हूँ हाँ, ये पहला कदम नहीं है वेदांत का बोला ये तो संसार है ये जागना भी इस शरीर से जागना भी संसार है हाँ, इस मन से सपना देखना भी संसार है और इस मन का सोना भी संसार है बोला तब सब क्या है जाग, जागना सपना देखना सुसुप्ति देखना क्या है आप ये आकृति नहीं है बिना आकृति बिना वजन की होती है वो तो जो नाक निकली है ना नाक का वजन नहीं है मिट्टी पानी आग का हवा का वजन है बोला वजनदार आपकी आंख नहीं है उसमें जो मिट्टी पानी गर्मी और हवा है उसका वजन है तो ये आकृति तत्व नहीं होती जिस पंचभूत में ये आकृति कल्पित होती है उसका वजन है आप ऐसे देखो कंगन का वजन नहीं है सोना का वजन है हार का वजन नहीं है सोना का वजन है अंगूठी का वजन नहीं है सोना का वजन है ये हार अंगूठी कुंडल तो स्वर्ण में कल्पित है तो ये आपका जो शरीर है इसका वजन नहीं है हाँ, अरे भले तराजू पर तोल लो हाँ, हाँ। तो एक दिन एक दिन एक ने कहा कि हम आपका तुलादान करावेंगे ऐसे हो तो भाई कितना लगभग 200 पाउंड के लगभग बना पहले दो सौ चौंतीस पाउंड था दो सौ हुआ कभी कभी दो सौ अस्सी पचासी भी हो गया एक सौ अस्सी पचासी भी हो गया हाँ, घटता है बढ़ता है सात आठ पाउंड के पैदा हुए अच्छा वजन किसका है वजन हाँ, इस कुंडल की तरह हार की तरह जो बनी हुई आंख नाक कान है उसका वजन है कि पंचभूत का वजन है ने? तो असल में आप पृथ्वी है जल है अग्नि है वायु है आकाश है सूर्य है द्युलोक है आप सप्तांग हैं आपका जागृत कितना बड़ा तो एक ब्रह्मांड हमारा जागृत शरीर है ना वो भी पंचभूत में जैसे ये शरीर पंचभूत में कल्पित है वैसे ब्रह्मांड भी पंचभूत में कल्पित है तो कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस पंचभूत में कल्पित है वो हमारा शरीर है वो स्थूल शरीर वो हमारा जागृत है अब ये हुआ एक पाठ माने आप जो अपने को देह मान के बैठे थे यहाँ से एक कदम आगे बढ़े कि आप सात अंगों वाला अपने को अनुभव करते हैं अहम विराट कोटि कोटि ब्रह्मांडों की कल्पना से युक्त ये जो पंचभूत है वो मेरा शरीर है अपने शरीर को पंचभूत से मिलाइए और पंचभूत से मिला के सूर्य द्यूलोक सहित सात अंग महम विराट ये आपका पहला एक कदम आप वेदांत की ओर चले कि नहीं उसी को पाद बोलते हैं हो पाद और उसके बाद जब आप सूक्ष्म सप्तांग को लेंगे तब आपका द्वितीय पाद होगा और जब प्रज्ञा के घनी भाव को लेंगे तब आपका नाम जैसे विराट और हिरण गर्भ ईश्वर ऐसा सर्वेश्वरा वो आपका तीसरा पाद है और ये तीनों का जब निषेध होगा तब आप तुरीय चतुर्थ पाद हाँ, वो वो सिद्ध है एक कदम दो कदम तीन कदम आप बढ़िए आगे इस देह से उठेंगे तब एक कदम है कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसमें बने हुए हैं वो द्विलोक और सूर्य सहित सप्तांग और उसके आगे सूक्ष्म दूसरा पाद है तीसरा पाद है प्राज्ञा ईश्वर और चौथा बोले चौथे आप हैं पूरी हैं तो देखो आत्मा माने क्या आत्मा का जागृत स्वप्न सुषुप्ति माने एक देह की जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं हाँ। तो आभासवादी लोगों ने ऐसी कल्पना की है ये बात भी मैं जो आपको सुना रहा हूँ आप स्वयं किताब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आवेगी इसको भी समझना पड़ेगा बोला आपका इस शरीर का जागना सपना देखना सुसुप्ति होना ये आपका भाग नहीं है कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसमें कल्पित है वो पंचभूत गत जो चेतना है उसको विराट बोलते हैं पड़े सूक्ष्म पंच परमात्मा तो भाई अपने मन से ही किस्सा कहानी की तरह चुटकुले की तरह वेदांत को मत समझो ऐसा नहीं है कि कैसे सोचें सोचने का ढंग कुछ हो और उस निश्चय पर पहुंच जाए पहले उस निश्चय पर पहुंचने के लिए एक शैली से प्रणाली से प्रक्रिया से विचार करना पड़ता है संसार है क्या मैं और मेरा इसका नाम संसार है मैं पापी पुण्य आत्मा हूं और मैं सुखी दुखी हूं उसका नाम संसार है शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से ये बात कही कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारा संसार की पहचान क्या है अपने को पाप पुण्य का कर्ता मानना और उसके फल सुख दुख का भोक्ता मानना बस देखो इसमें बुद्धिमत्ता कहाँ है कर्म का नाम संसार नहीं है और भोग का नाम भी संसार नहीं है परंतु कर्म में अपने को कर्मी समझने का नाम संसार है और भोग में अपने को भोगी समझने का नाम संसार है कर्म तो होते ही रहेंगे जब तक शरीर रहेगा कर्म होते रहेंगे ज्ञान होने से कर्म की निवृत्ति नहीं होगी कर्मी पने की निवृत्ति होगी ज्ञान होने से कोई खाना पीना बंद नहीं हो जाएगा भोग की निवृत्ति नहीं होगी भोगी पने की निवृत्ति होगी तो ये बात जो लोग वेदांत के चुटकुले सुन लेते हैं और कहानियां सुन लेते हैं और अपने आप किताब पढ़ लेते हैं उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है तो संसार माने पहले सुनिए संसार माने कर्म होना संसार नहीं है और भोग होना का ये भी संसार नहीं है अपने में कर्म का कर्तापन माने मैं कर्मी हूँ पापी हूँ पुण्यात्मा और अपने में भोगीपना मैं सुख दुख का भोगता सुखी दुखी हूं तो ये जो कर्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं कुछ इस लोक के लिए होते हैं और शरीर निर्वाह मात्र और कुछ अंतकरण में संस्कार उत्पन्न करने वाले होते हैं अपूर्व अदृष्ट और भोग भी कोई शरीर निर्वाह मात्र के लिए होता है और कोई वासना पूर्वक रसास्वाद के लिए तो भोग भी कुछ अब उसका विभाग करते हैं कुछ इस जन्म में नहीं होता तो अगले जन्म में होता है कुछ इस लोक में नहीं होता तो परलोक में नरक स्वर्ग में होता है एक बात आपको समझाने हमारा अभिप्राय समझाने में ही है आपको नरक या स्वर्ग में भेजने में हमारा अभिप्राय नहीं है उसके लिए तो आपके पादरी मौलवी पुरोहित बहुत हैं है? अब हम लोग फकीरी ढंग में उसको क्या बैठा है परंतु शैली क्या है वेदांत की प्रक्रिया क्या है कि यदि आप पहले नरक स्वर्ग सुनकर इनको काट लें इस लोक के जो भोग हैं उनको रहने दें और आपके अंतकरण को शुद्ध बनाने वाले देवता बनाने वाले जो कर्म हैं उनको तो छोड़ दें हैं? और इस लोक में आपको तात्कालिक सुख देने वाले जो कर्म हैं उनको रहने दें तो इसका नतीजा क्या होगा आपकी समझ में वेदांत कभी नहीं आएगा पहले नरक स्वर्ग पुनर्जन्म नहीं काटा जाता है पहले इस जीवन में जो हम बारंबार सुखी दुखी होते हैं उसको पहले काटा जाता है पहले इस शरीर के साथ जो सुख दुख में रागत द्वेष है वो पहले कटेगा बाद में नरक से द्वेष और स्वर्ग से राग कटेगा इस जीवन में आपके बुराई बुराई रह जाएगी अच्छाई नहीं तो हम पहचानते हैं वेदांति को और वेदांत के दुश्मन को पहले ही नरक स्वर्ग को काट देगा और पुनर्जन्म को काट देगा वो आपको धर्मानुष्ठान से विमुक्त कर देगा और आपको स्वच्छंद आचार उच्छृंखलता के चक्कर में डाल देगा चाहे जो खाओ चाहे जो पियो चाहे जो करो तो इस तरह को इस तरह से बताने वाले जो लोग हैं वो संप्रदाय के अनुसार वेदांत को नहीं बताते हैं वो आपको चार बात बना देंगे कि नरक नहीं स्वर्ग नहीं पुनर्जन्म नहीं नास्तिक बना देंगे आपको आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार नहीं कराएंगे जो कह रहे हैं कि पाप पुण्य कुछ नहीं होता है आपको पहले ही बता दें हाँ, तो वो प्रक्रिया नहीं हुई वेदांत की शैली नहीं है वो प्रक्रिया नहीं है वो संप्रदाय हाँ, वो संप्रदाय नहीं है हाँ। तो हर बात को समझने के लिए एक क्रम बनाना पड़ता है पहले क्या पीछे क्या पहले क्या पीछे क्या ये क्रम का जो बोध है इसके लिए संप्रदाय की अपेक्षा होती है संप्रदाय का अर्थ आजकल जो होता है वो नहीं सम माने सम्यक उत्तम हाँ, हाँ, भली भांति और प्रा माने प्रकृष्ट ज्ञान का दाय माने उत्तराधिकार संप्रदाय माने जो ज्ञान नारायण को था जो ज्ञान सदाशिव को था जो ज्ञान ब्रह्मा को था जो ज्ञान सनक नारद आदि को था जो ज्ञान जाज्ञवल्की और शंकराचार्य आदि को था वही ज्ञान हमको प्राप्त हो गए माने ज्ञान की जो परंपरा है वो अविच्छिन्न रहे इसका नाम संप्रदाय होता है इसमें कोई शंका ही नहीं है कि जो ज्ञान सुखदेव को था वामदेव को था सनत कुमार को था नारद को था ब्रह्मा विष्णु महेश को था हाँ, वही ज्ञान हमको है उस ज्ञान में और इस ज्ञान में कोई फर्क नहीं है यदि ज्ञान में फर्क हो जाएगा तो अज्ञान हो जाएगा और ज्ञानांतर तो अज्ञान है इसलिए जो अनुभव नारायण को था वही हमको कैसे प्राप्त हो और तो उसको प्राप्त करने के लिए हम संप्रदाय परंपरा से उस ज्ञान को प्राप्त करें अब आपको एक दूसरी बात सुनाता है ज्ञान के लिए गुरु की प्रसन्नता भी चाहिए तो क्यों असली ज्ञान दे देने पर ये आदमी राक्षस तो नहीं हो जाएगा हो सकता है क्योंकि ज्ञान प्रकाशक है नियामक नहीं है लौकिक ज्ञान जो होता है वो प्रकाशक भी होता है और नियामक भी होता है और तत्व ज्ञान जो होता है वो प्रकाशक तो होता है वाह वाह आओ प्रभु जीवन मुक्तानंद मुनि महाराज आ गए हाँ। मैंने जैसे आपको जहर का ज्ञान हो तो आपने जहर को जाना ये तो हुआ जहर का प्रकाश लेकिन वो ज्ञान कहेगा कि इसको पीना मत ये मृत्यु का हेतु है तो जो अन्य पदार्थ का ज्ञान होता है वो प्रकाशक होता है और साथ ही साथ नियामक भी होता है ये अमृत है ये ज्ञान हुआ कहीं इसको पीना चाहिए तो ज्ञान हुआ और अमृत पीने की प्रवृत्ति हुई और ज्ञान हुआ और जहर छोड़ने की प्रवृत्ति हुई तो लोक में जो ज्ञान होता है वो प्रवर्तक और निवर्तक होता है नियामक होता है और ये जो तत्व ज्ञान है ये प्रवर्तक निवर्तक नहीं होता केवल बोधक होता है केवल प्रकाशक होता है ये फर्क हाँ, हाँ। आप अपने आप वेदांत पढ़ेंगे तो जल्दी आपके ध्यान में नहीं आएगा तो इसका कारण क्या है कि अमृत एक अलग चीज है जानने के बाद उसको पीना पड़ेगा और जहर एक अलग चीज है जानने के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा लेकिन अपना जो आत्मा है वो न पाने की चीज है और न छोड़ने की चीज है वो तो नित्य प्राप्त ही है इसलिए उसका ज्ञान केवल प्रकाशक ही होता है प्रवर्तक निवर्तक नहीं होता न अमृत की तरह पीने का है न जहर की तरह छोड़ने का है वो तो अपना आप बिल्कुल जानना जानना ये ज्ञान के संबंध में दो एक बात आपको सुनाते हैं तो गुरु जी जो हैं वो जब देखेंगे कि जब इसको ज्ञान हो जाएगा तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति निवृत्ति जो है वो चालू हो जाएगी है? तो पहले इसके स्वभाव को संस्कृत कर लेना चाहिए स्वभाव में संस्कार डालना चाहिए तो वो संस्कार क्या होता है ना विरतो दुष्चरिता ना शांतो ना समाधिता दुष्चरित्र छोड़ो काम क्रोध आदि छोड़ो चंचलता छोड़ो मन की ये जो सिद्धि विद्धि है ना ढोंग भतूरा जरा शब्द तो कड़ा है पर है ये ढोंग धतूरा ही हमको एक बार चमत्कार मालूम पड़ा क्या एक गिलास